जगत में सुबह की चर्चा में में परमात्मा एक रहस्य और मैं आपसे कहना चाहूंगा जहाँ रहस्य वही परमात्मा है रहस्य ही परमात्मा है वो जो मिस्टीरियस है वो जो जीवन में अबूझ है वो जो जीवन में अव्याख्य है वो जिसे जीवन में समझाना और समझना असंभव है जो बुद्धि की समस्त सीमाओं को पार करके जो तो बुद्धि की समस्त सामर्थ्य से दूर रह जाता अतीत रह जाता वो जो ट्रांसेंडेंटल है वो जो भाव अतीत है वही प्रभु है लेकिन उस प्रभु को जानने के लिए जरूरी है कि हमारे भीतर विस्मय की क्षमता गहरी से गहरी होती चली जाए हमारे पास ऐसी आंखें हों जो निकट प्रश्नवाचक ढंग से सारे जीवन को देखने के लिए पात्र हो गए जो पूछे और जिनके पास कोई उत्तर न हो जो पूछे और मौन खड़े रह जाए जिनका प्रश्न अंतरिक्ष में गूंजता रह जाए और जिनके पास कोई भी उत्तर न हो उनके प्राणों का संबंध उससे हो जाता है जो जीवन जो जीवन का सत्य है जहाँ जीवन का मंदिर है विस्मय कर देता है मनुष्य को विनम्र विस्मय अकेली शून्य होती है विस्मय में ही विनम्रता उत्पन्न होती है क्योंकि जब मुझे ज्ञात होता है कि मैं नहीं जानता तो मेरे अहंकार को खड़े होने की कोई भी देखा नहीं रहता ज्ञान अहंकार को मजबूत कर देता है विस्मय अहंकार को विदा कर देता है बच्चों के पास अहंकार नहीं होता बूढ़ों के पास इकट्ठा होता अज्ञानी के पास अहंकार नहीं होता ज्ञानी के पास इकट्ठा होता अज्ञान का जो गैप है इस बात की जो स्मृति है कि मैं नहीं जानता हूँ कि मनुष्य के भीतर सख्त गांठ को पिघला देती जिसे हम अहंकार करते हैं और वो गांठ जितनी मजबूत होती चली जाए उतने ही मनुष्य अंधा हो जाता है क्योंकि उसे तो फिर प्रत्येक चीज मालूम पड़ती है कि मैं जानता हूँ और उसके जीवन में रस मिस्ट्री जैसी कोई भी चीज नहीं रह जाती ये जो मनुष्य जाति इतनी अधार्मिक होती चली गई है वो इसलिए ही विस्मय के भाव की हत्या कर दी गई है पहले धर्म शास्त्र ने उसकी हत्या की फिर पीछे विज्ञान ने उसकी हत्या कर पहले धार्मिक लोग इस तरह के दावे करते रहे कि हम सब कुछ जानते हैं हम ईश्वर को भी जानते हैं आत्मा को भी पुनर्जन्म को भी परलोक को भी स्वर्ग को भी नरक को भी सब कुछ जानते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं जानते और हमारे शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है तो जीवन का सब कुछ जान लिया गया जीवन व्यर्थ हो गया अर्थ वही है जहाँ कुछ अज्ञात शेष रहता है जहाँ हम ठंडे खड़े रह जाते हैं और नहीं कह पाते कि हम जानते तो धर्म शास्त्रों ने एक भ्रम पैदा कर दिया कि हम सब जानते फिर पीछे विज्ञान आया उसी धारा में और विज्ञान ने भी दावे शुरू किए कि हम सब जानते हैं धीरे धीरे ये दावा इतना गहरा हो गया मनुष्य के मन में कि उसे ये ख्याल ही मिट गया कि हमारा जानना ना कुछ के बराबर है एक छोटी सी कहानी से वो समझा एक धर्मगुरु ने एक रात सपना देखा सपना कि वो स्वर्ग के द्वार पर पहुंच गया है उसमें जाके स्वर्ग के द्वार पर देखा कि परमात्मा उसे लेने को स्वागत करने को वहां खड़ा है या नहीं वे लोग जो थोड़ी सी माला पहन लेते हैं वे जो लोग पीले वस्त्र पहन लेते हैं वे लोग जो सुबह मंदिर को आते हैं जब स्वर्ग के द्वार हैं तो परमात्मा दरवाजे पर उनका स्वागत करता हुआ मिले और ने भी सोचा तो कुछ बुरा नहीं सोचा उसकी अपेक्षा बिल्कुल न्याय संगत थी जीवन भर वो परमात्मा का ही स्मरण करता रहा उसके ही गीत गाता रहा उसके ही चरणों में पूजा चढ़ाता रहा तो इतनी अपेक्षा तो बेचारा कर ही सकता था कि द्वार पर वे मिलेंगे लेकिन द्वार बंद था और द्वार पर उसने हाथ सीखने शुरू किए लेकिन द्वार इतना बड़ा था इतना बड़ा तो उसके हाथ की चोट ऐसी मालूम पड़ती थी जैसे किसी पहाड़ पर कोई सीधी आवाज करती हो कोई ध्वनि पैदा नहीं होती थी वो बहुत घबरा आया उसने तो हमेशा यही पढ़ा था धर्मशास्त्रों में God created man in his own image उसने तो यही पढ़ा था परमात्मा ने आदमी को अपनी ही शक्ल में बनाया आज उसे पता चला कि दरवाजा इतना बड़ा है उसके कोई और छोर दिखाई नहीं पड़ते मुझे पहली दफे पता चल रहा है कि मैं कहाँ आ गया हूँ मेरी कहाँ खोज खबर होगी यहाँ कौन मुझे पहचानेगा चिल्लों चिल्लाने चीख पुकार मचाने पर एक खिड़की खुली एक विराट खिड़की जैसे एक आकाश ही खुल गया हो और कोई सिर से झांका कोई सिर जिसके आयाम की भी कल्पना करनी कठिन हो और इस सिर से हजारों आंखें झांकने लगी और एक आंख एक एक सूरज की भांति वो गुरु घबराया और एक छोटी सी ओट में छिप गया और वहां से चिल्लाने लगा कि परमात्मा आप भीतर ही रहिए आपकी आंखें इतनी तेज है कि मैं बहुत डरा जा रहा हूँ मेरे प्राण सुख जा रहे हैं आप भीतर से ही दर्शन भी थी आप पर्दे के भीतर ही ठीक है लेकिन हजार आंखों वाला आदमी हंसने लगा उसने कहा मैं परमात्मा नहीं यहाँ का सबसे अजना नौकर यहाँ का यहाँ का पहरे द्वार यहाँ का द्वारपाल हूँ मैं परमात्मा नहीं हूँ तब तो वो धर्मगुरु बहुत घबराया हिम्मत जुटा के थोड़ा बाहर निकला क्योंकि द्वारपाल से बाकी घबरा जाना उचित नहीं लेकिन उसके आंखों के सामने टिकना बहुत मुश्किल था और फिर वो द्वारपाल कहने लगा कि तुम कहाँ छिपे हो मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ता हजार आंखें और सूरज की तरह की आंखें लेकिन उनमें भी आदमी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है वो धर्म गुरु बोला क्या कहते हो मैं दिखाई नहीं पड़ता हूँ मैं परमात्मा से मिलने आया हूँ मैं उस खास धर्म का प्रचारक हूँ जो परमात्मा नहीं जिसकी किताब दुनिया में देगी वो द्वारपाल हंसने लगा और उसने कहा सभी को यही वहम है कि हर एक की किताब भगवान नहीं देगी वेद भी भगवान ने बाइबल भी कुरान भी गीता भी सभी किताबें भगवान ने देखी सभी को यही ख्याल है लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ तुम आते कहाँ से हो उस आदमी ने कहा कि मैं मैं पृथ्वी से आ रहा हूँ द्वारपाल उसने लगा उसने कहा ठीक ठीक नंबर बताओ इंडेक्स नंबर तुम्हारी पृथ्वी का क्या है क्योंकि बहुत पृथ्वी है अनंत पृथ्वी है किसका पता तुम किस पृथ्वी का ये तो धर्मगुरु कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी पृथ्वी के अलावा भी कोई पृथ्वी उसने कहा कि वही पृथ्वी जो सूरज के आसपास है सौर परिवार में है सूर्य वाली पृथ्वी वो द्वार पर हंसने लगा उसने कहा तुम्हारे अज्ञान तो मुझे हंसी आती तुम कैसे धर्म गुरु तुम्हें शायद ये पता नहीं कि कितने सूरज है अनंत सूर्य है अनंत सूर्यों की अनंत पृथ्वी तो तुम नंबर बता सको अपने सूरज का तो कुछ खोजबीन की जा सकती है कि तुम कहाँ से आते हो उस कर्म गुरु ने कहा कि मैं मनुष्य हूँ ये मनुष्य के साथ कैसा अपमान हो रहा है भगवान के द्वार पर मैं कोई साधारण कीड़ा मकोड़ा नहीं हूँ मैं कोई पशु पक्षी नहीं हूँ मैं मनुष्य जाति का प्राणी हूँ मैं सर्वश्रेष्ठ प्राणी हूँ भगवान ने अपनी ही शकल में मुझे बनाया वो द्वारपाल हंसने लगा उसने कहा आदमी ये नाम पहली बार ही इस दरवाजे पर सुना जा रहा है लेकिन हम पता करने की कोशिश करेंगे शायद पता लग जाए तुम कहाँ से आ रहे और वो द्वार बंद हो गया और समय बीतने लगा और उस द्वार के खुलने की कोई संभावना न दिखाई फिर नींद में गबड़ा कर ऊप कर उस धर्मगुरु की नींद खुल गई वो अपने बिस्तर पर पड़ा और उसके चेहरे पर पसीना और उसकी आंखें आंसुओं से दी और उस पैर में दम दब कर रहा वो बहुत भयानक दुख स्वप्न से गुजरा उसकी समझ में भी नहीं आया कि ये क्या था लेकिन ये सच्चाई ये सपना नहीं आनंद है जीवन विज्ञान ने भी जिन सूर्यों की दिन की है उनकी संख्या दो अरब हो गई दो अरब सूर्यों का पता तो विज्ञान को लेकिन उन दो अरब सूर्यों पर अस्तित्व तो समाप्त नहीं होता उसके आगे भी उसके आगे भी उसके आगे भी और कितना फासला है अस्तित्व का सूरज जमीन से कितनी दूर इस जमीन हमें बहुत बड़ी मालूम पड़ती हमें तो राजकोट ही बहुत बड़ा मालूम पड़ता हमें तो अपना घर ही बहुत मालूम पड़ता हम तो खुद ही बहुत बड़े मालूम पड़ते हैं लेकिन ये पृथ्वी कितनी बड़ी है शायद इस जगत में इससे छोटा और क्या हो सकता है सूरज इससे पांच हजार गुना बड़ा है लेकिन सूरज बहुत बड़ा नहीं है सूरज सारे जगत में अब तक ज्ञात तारों में ज्ञात सूर्यों में सबसे छोटा सूरज है सूरज से हमारा फासला बहुत है लेकिन सूरज कोई बहुत दूरी पर नहीं है जो सबसे निकट का सूरज है इस सूरी के बाद उससे प्रकाश की रोशनी चले तो हम तक आने में चार वर्ष लग जाते हैं शायद आपको पता होगा कि प्रकाश की रोशनी गति प्रति चलती एक सेकंड में एक लाख छियासी हजार मील एक सेकंड में एक लाख छियासी हजार मील प्रकाश की किरण चलती सबसे करीब इस सूरज को छोड़कर जो तारा है हमारे उससे जमीन तक रोशनी आने में चार वर्ष लग जाते हैं उससे दूर के जो तारे हैं किसी से सौ वर्ष किसी से हजार वर्ष किसी से लाख वर्ष किसी से करोड़ वर्ष पृथ्वी को बने हुए दो अरब वर्ष हुए ऐसे तारे हैं जिनसे दो अरब वर्ष पहले चली हुई किरण अब तक पृथ्वी से नहीं पहुंच सकी और सारे होंगे जिनकी किरणें शायद हम तक कभी भी नहीं पहुंच सके ये जो अंतिम अनंत विस्तार है इसके बीच जिसको ये ख्याल हो जाता हो कि हम जानते हैं वो पागल हो गए इस अंतिम विस्तार के प्रति जो भी जागेगा उसका में जाग जाएगा उसके भी आश्चर्य जाग जाएगा वो चकित वो आवाज खड़ा रह जाएगा कि ये क्या है उसे कोई भी उत्तर नहीं पूछेगा उसे सब उत्तर बचकाने और चाइल्ड मालूम होंगे चाहे धर्मगुरुओं के चाहे वैज्ञानिकों के उसे उत्तर मात्र बचकाने मालूम होंगे इस अंध और आदिहीन विस्तार के लिए क्या उत्तर हो सकता है आदमी के पास क्या व्याख्या हो सकती क्या एक्सप्लेनेशन हो सकता है व्याख्या देने की परिभाषा करने की चेष्टा ही शायद न समझी है वे लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो चुपचाप मौन में इस विस्तार को जानने में समर्थ हो इस चित्त दशा को मैंने विस्मय कहा इस चित्त दशा को मैंने आश्चर्य कहा इस आश्चर्य से गुजर कर ही कभी किसी ने कुछ जाना हो तो जाना हो ज्ञान के बोझ को लेकर तो कोई कभी नहीं जान पाता ज्ञान का बोझ तो मृत बोझ है एक फकीर एक सुबह ही भीख मांगने गया था और किसी मित्र ने उसे थोड़ा सम्मान मान भेंट कर दी और साथ में एक किताब भी दी एक पाकशास्त्र भी दिया कि इस किताब में इस मांस को बनाने की विधि लिखी हुई वो उस किताब को और मांस को लेकर खुशी खुशी अपने झोपड़े की तरफ बाधा चला जा रहा है एक चील झपटी और उसके मांस को हाथ से छीन जोड़ गई वो फकीर खड़े होकर हंसने लगा उसने कहा मूर्ख चील मानस को ले जाके क्या करेगी बनाने की तरकीब की किताब मेरे पास आ गई धोखे में वो खुशी खुशी घर पहुंचा और उसने अपनी पत्नी को कहा सुनती हो एक चील मूर्ख बन गई अपने हाथ मांस छीन के ले गई और पागल को पता भी नहीं कि बनाने की तरकीब की किताब में ले आया उसकी पत्नी ने अपना सिर ठोक लिया और उसने कहा कि तुम कैसे ज्ञानी हो ये मुझे समझ में आ जिंदगी छूट जाती है किताब हाथ में रहता जिंदगी छूट जाती है ज्ञान हाथ में रह जाता है कोरा कागज कोरे सब और हम बड़े खुश होते हैं कि हम किताब अपनी बचा के घर ले आए देखो तो मैं हजारों साल तक किताबें बचा लेती हूँ बहुत नाच गान बहुत शोरगुल करती हूँ हमारी किताब सबसे ज्यादा पुरानी हमने बहुत दिनों से बचाई है और किताब भी बच जाती है हाथ में और जीवन चूक जाता है सच तो यह है कि किताब को पकड़ने वाला चित्त जीवन को पकड़ने वाला चित्त नहीं होता है ये दिशाएं अलग है शब्दों को पकड़ लेने वाला चित्त सत्य को पकड़ लेने वाला चित्त नहीं होता है ये आयाम अलग है ये मार्ग अलग है शब्दों को पकड़ लेने वाला करता क्या है शब्दों को सीखता है स्मरण करता है मेमोरी को परिपक्व करता है स्मृति को भरता है स्मृति के संग्रह को मजबूत करता है बहुत सी इंफॉर्मेशन बहुत सी सूचनाएं इकट्ठी करता है और इन सूचनाओं के घेरे में जानता है सोचता है कि मैंने जान लिया सूचना होगा जानने से क्या संबंध क्या नाता सूचनाएं तो मशीनों में भी संग्रहित की जा सकती है सूचनाएं तो मशीनें भी दे सकती है आदमी अगर सूचनाएं इकट्ठी कर लेता है तो उससे कुछ ज्ञानी हो जाने का संबंध है ज्ञान बड़ी और बात है ज्ञान तो समग्र जीवन का आमूल परिवर्तन है ज्ञान बौद्धिक सूचनाओं का संग्रह नहीं समग्र आत्मा का आमूल परिवर्तन है ज्ञान एक नए जीवन में गति है ज्ञान शब्दों का संग्रह नहीं सत्य का अनुभव है और उस अनुभव के लिए शास्त्रों और शब्दों को पकड़ लेने वाले लोग हमेशा के लिए दीवार बना लेते हैं ये मैंने सुबह आपसे कहा इसलिए मैंने कहा विश्व में की आंखें वापस उपलब्ध कर लें ज्ञानी का अहंकार छोड़ दें जिसमें विमुक्त बच्चे के भाव को निर्दोष भाव को ले आए एक दूसरे मित्र ने पूछा है कि कैसे हम छोड़ दें मैंने सुबह भी कहा शायद वो नहीं सुन पाए मैंने नहीं कहा कि आप भूल जाए मैंने नहीं कहा कि यहाँ से जाते वक्त आपको अपने घर का पता न रह जाए मैंने नहीं कहा कि आप अपना नाम भूल जाए ये सब मैंने नहीं कहा मैंने सिर्फ इतना कहा है इस बात को आप जान रहे हैं कि जो आपने शब्दों से सूचनाओं से जाना है वो ज्ञान नहीं है बस तो इतना काफी है इतना जानते ही आपके तो प्राणों में एक नई बेचैनी की लहर दौड़ जाएगी कि फिर ज्ञान क्या है एक आदमी पत्थर को हाथ में रखे हुए संभाले हुए और समझ रहा है कि पत्थर बहुमूल्य हीरा है मैं उससे नहीं कहता इसे छोड़ दे और फेंक दे मैं उससे यही अगर कह पाऊं कि ये हीरा नहीं ये पत्थर है और उसे याद आ जाए कि ये पत्थर है और ख्याल आ जाए और समझ आ जाए तो बात पूरी हो गई फेंकने और न फेंकने का सवाल नहीं पत्थर दिखाई पड़ते ही उसके प्राणों का वो सारा संबंध टूट गया जो हीरे के साथ था और पत्थर के साथ नहीं हो सकता दो सन्यासी एक रात एक जंगल से गुजरते थे एक वृद्ध सन्यासी है वो अपने कमरे पर जोड़ी लटकाए हुए है पीछे उसका साथी है रात पड़ गई अंधेरा गना होने लगा और बीवर अनजान जंगल वो बूढ़ा सन्यासी अपने युवा मित्र से पूछने लगा जंगल में कोई डर तो नहीं कोई भय तो नहीं जंगल अंधेरा मालूम पड़ता रात खतरनाक मालूम पड़ती युवा सन्यासी बहुत हैरान हुआ क्योंकि सन्यासी को कैसा भय और जिससे भय हो वो कैसा सन्यासी और आज तक इस बूढ़े ने कभी भी नहीं पूछा था कि रास्ता मेरी है जंगल है क्या हो गया है आज आज कैसे पहले ने इसके प्राणों को आतंकित कर रखा है फिर थोड़ी देर बाद और वो बूढ़ा फिर पूछने लगा रास्ता खतरनाक तो नहीं चोर बदमाशों का डर तो नहीं वो युवक तो बहुत हैरान हुआ आज हो क्या गया है सन्यासी के पास खोने को ही कुछ नहीं तो चोर और डाकू का सवाल क्या फिर वे कुएं पर रुके पानी पीने को वो बूढ़ा कुआ पानी भरने लगा उसने अपने कंधे का झोला युवक को दिया और कहा संभाल के रखना तभी उस युवक को ख्याल आया कि भय का कोई ना कोई कारण झोले के भीतर होना चाहिए उसने बूढ़ा तो पानी पीने लगा उस युवक ने हाथ डाला भीतर देखा सोने की एक पूरी ईट उसने वो ईट तो उठा के झोले के बाहर फेंक दी और एक पत्थर का टुकड़ा उठा के झोले में वापिस रख दिया उन्होंने जल्दी से पानी लिया चारों तरफ झांक के देखा जल्दी से झोले को कंधे पर टांगा ऊपर से टटल के देखा ईट है वो चल पड़ा थोड़ी देर बाद फिर उसने पूछा कि कोई खतरा तो नहीं है रास्ता खत्म नहीं होता गांव दूर मालूम पड़ता है उस युवक ने कहा अब आप बेफिक्र हो जाए अब कोई खतरा नहीं खतरे को मैं पीछे फेंक आया तो घबरा गया उसने झोली में हाथ डाला ईट निकाल के देखी वो तो पत्थर की ईट थी एक क्षण को तो वो चुपचाप खड़ा रह गया उस घनी रात में फिर उसने वो ईट फेंक दी फिर वो वही बैठ गया और उसने अपने युवा साथी को कहा अब हम व्यर्थ ही गाँव तक जाने की चिंता न करें आज रात यही सो जाए सुबह चले चले अब कोई है न रहा उस बूढ़े ने कहा आश्चर्य अब कोई भय न रहा अब तक मैं भयभीत था अब ना रात रही अब न चोर रहे न अब चाकू रहे अब कोई भय न रहा कोई खतरा न रहा क्या हो गया बात क्या हो गई जिसे अब तक वो सोने की ईट समझे था वो पत्थर की ईट थी बात खत्म हो गई सोने की ईट वहां नहीं थी लेकिन ऊपर से झोले को टटोल रहा था ईट मालूम पड़ती थी कि भीतर है वजन मालूम पड़ता था पत्थर में भी वजन होता है तो सोने में भी वजन होता है हाथ बताते थे कि है ईट मौजूद है वो गए भी छाती से दबाया उस ईट को बढ़ा जाता था लेकिन फिर झोला खोला और देखा सीखे हुए ज्ञान में भी वजन होता है पत्थर जैसा है जाने हुए ज्ञान में भी वजन होता है सोने जैसा हाथ को दोनों वजन एक से मालूम पड़ते हैं तराजू पहचान नहीं सकता कि कौन पत्थर है और कौन सोना है पहचानने के लिए खुली आंखें चाहिए अपनी खोपड़ी के भीतर अपने झोले के भीतर झांक के देख लेना चाहिए कि जो हम रखे वो कहीं सीखा हुआ दूसरों से उधार और बासा ज्ञान तो नहीं अन्य वो पत्थर है अगर खुद का जाना हुआ है अगर खुद का जिया हुआ और खुद की अनुभूति में आई हुई कोई खबर है कोई किरण है तो वो बात दूसरी है वो सोना दूसरा है इस बात को जो पहचानता है भीतर उसे कुछ फेंकना नहीं पड़ता फेंकने का कोई सवाल नहीं है बात खत्म हो जाती है कोई संबंध टूट जाता है कोई नाता बदल जाता है कोई चीज ट्रांसफॉर्म हो जाती है जो मिट्टी निकल आई जो पत्थर निकल आया उसके साथ वही संबंध नहीं रह जाता जो सोने के साथ था अगर हम अपने शास्त्रों शब्दों के ज्ञान को ज्ञान समझते हैं तो एक तरह का संबंध होगा उससे और हम अगर उसे मात्र जानकारी समझते हैं तो दूसरे तरह का संबंध होगा उससे ये दोनों संबंध बुनियादी भिन्न है और अगर जानकारी को हमने ज्ञान समझ रखा है तो हम मिथ्या संबंध को निर्मित कर लेंगे वही संबंध भटकाता है और जीवन को नष्ट कर देता है इसलिए मैंने कहा कि विस्मय चाहिए और सीखे हुए ज्ञान से सीखे हुए ज्ञान के प्रति एक जागृति एक होश एक समझ चाहिए इस समझ को जितना विकसित करेंगे उतना ही आप पाएंगे कि एक बोझ हटता चला गया है आप जानते हैं सब जो कल जानते थे वो कहीं भूल नहीं गया वो कहीं खो नहीं गया लेकिन अब आप एक बात और भी जानते हैं कि वो आपके प्राणों का हिस्सा नहीं वो आपकी अपनी आत्मा की ज्योति नहीं वो आपकी अपनी संपदा नहीं वो है पढ़ाई वो है उधार वो है ऋण और ऋण से कभी कोई धन नहीं होता है वो बाहर है वो किसी से मांग कर लाई गई है और मांगी गई चीजों से कोई सम्राट नहीं होता है चाहे कोई कितना ही मांगता चला जाए और चाहे कोई मांग मांग के कितने ही मान खड़े कर ले और कितनी ही संपदा इकट्ठी कर ले वो छोटे भिकारी से बड़ा भिकारी हो जाता है सम्राट नहीं मांगने से कोई सम्राट कैसे हो सकता है सम्राट तो केवल वे ही होते हैं जिनका मांगना समाप्त हो जाता है और जिन्हें कोई ऐसी निधि मिल जाती है कि अब वे दे सकते हैं और उस निधि से कुछ भी नहीं झुकता अब वे बांट सकते हैं और निधि समाप्त नहीं होती अब मांगने के दिन दूर चले गए एक राजधानी की तो खबर आपने सुनी होगी हो सकता है आप भी उस राजधानी में रहे हो उस राजधानी में ऐसा हुआ था कि एक फकीर मरने के करीब आ गया था एक एक सन्यासी मरने के करीब और सन्यासी को जीवन भर लोग न मालूम क्या क्या भेंट कर गए थे उसके पास कुछ स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी हो गई थी उसने सारे गांव में डूडी पिटवा दी कि गांव का जो सबसे दरिद्र और भिखारी आदमी हो वो आ जाए उसे मैं अपनी संपत्ति दे दूंगा गांव के भिकमंगे वहां इकट्ठे हो गए गांव में कोई भिकमंगों की कमी है फिर वो राजधानी की राजधानी में तो भिकमंगों का भारी निवास होता है तो सब वहां इकट्ठे हो गए राजधानी में बसता ही कौन है और भिकमंगे चोर बेईमान वे सब वहां निवास करते हैं तो सारे भिकमंगे इकट्ठे हो गए और उन्होंने आके उस फकीर के द्वार पर भीड़ लगा ली और तो सब दावा करने लगे कि मुझसे बड़ा भिखारी और कोई भी नहीं मुझे मिल जाना चाहिए उस सन्यासी ने कहा कि मैं थोड़ी जांच परख कर लू अभी मुझे वो आदमी दिखाई नहीं पड़ रहा है जिस नगर का सबसे बड़ा भिखारी है तुम भी भिखारी हो मैंने माना लेकिन तुम सबसे बड़े नहीं हो मैं उसकी प्रतीक्षा करूंगा अगर वो नहीं आएगा तो तुम्हारे बीच जो सबसे बड़ा अधिकारी उसको दे दूंगा वे सब एक दूसरे को भली भांति पहचानते थे एक ही धंधे के लोग उस धंधे के लोगों को भली भांति पहचानते थे ये सब भिकमंगे अच्छी तरह जानते थे कि गांव के सभी भिकमंगे इकट्ठे हो गए अब कोई भिकमंगा पीछे शेष नहीं रहा ये किसकी प्रतीक्षा कर ये किसकी राह देखता है लेकिन उसकी आंखें सड़क के तरफ लगी हुई है और फिर वो मंगा आ गया लेकिन वो मंगा नहीं था मंगे तो चकित रह गए वो था गांव का राजा वो अपने हाथी पर निकला हुआ था और वो सन्यासी बाहर आया और उसने अपनी झोली जिसमें सोने मुद्राएं इकट्ठी थी सन उस सम्राट के हाथी के ऊपर फेंक थी वो झोली सम्राट के हाथ में पड़ी उसने कहा ये क्या है विखंडे चिल्लाने लगे कि ये क्या धोखा है तुमने तो कहा हम सबसे गरीब आदमी को सबसे मंदिर को दे देंगे और सन्यासी ने कहा जो इस गाँव का सबसे गरीब आदमी है उसको ही मैं दे रहा हूँ तुम्हारी मांग तो तृप्त भी हो सकती है इस आदमी की मांग की तृप्ति का कोई ठिकाना नहीं तुम्हें तो कुछ मिल जाए तो तुम शांत भी हो जाओगे इस आदमी को कुछ भी मिल जाए तो ये शांत नहीं हो सकता ये सबसे बड़ा भिखारी है के भी भिखारी होते हैं और ज्ञान के भी भिखारी होते हैं धन के भिखारी उतने खतरनाक भिखारी नहीं क्योंकि धन बाहर की चीज है ज्ञान के भिखारी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ज्ञान भीतर की चीज भीतर की आत्म दुनिया में भी जो भिकमंगे हैं उनके भिकमंगे का क्या इलाज होगा बाहर की दुनिया में जो मंगे है उनसे कोई इतना उपद्रव भी नहीं बाहर की दुनिया का कोई मूल्य भी नहीं लेकिन भीतर की दुनिया का बहुत मूल्य है इसलिए मैंने आपसे कहा कि उधार और मांगे गए ज्ञान को ज्ञान मत समझ लेना अन्यथा वहीं रुक जाएंगे वहीं ठहर जाएंगे अगर सम्राट बनना हो ज्ञान की दुनिया में को अज्ञान से शुरू करना विस्मय से शुरू करना वो पहली सीढ़ी अगर मुफ्त में सम्राट बन जाना हो अपने मन को समझा लेना हो ये मान लेना हो कि मैं जानता हूँ जल्दी और सस्ते में तो फिर बहुत आसान यही है कि जो चारों तरफ से सुना है उसी को सब को समझ लेना उसी को इकट्ठा कर लेना उसी को तोतों की तरह दौड़ाते रहना उसी का मंथन करते रहना और उसी में जीते रहना आसपास के लोगों को भी पता नहीं चलेगा कि आप दिखमंगे हो क्योंकि आपके आसपास की दिखमंगे ही इकट्ठे किसी को खबर भी नहीं होगी कि आप ये क्या कर रहे हो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये क्या हो रहा है बल्कि उल्टी हालते हैं मैंने सुना है कि एक ऐसा छोटा सा द्वीप था जिस पर सारे लोग अंधे थे सारे लोग अंधे उस दीप पर हमेशा से थे क्योंकि जब कभी कोई आंख वाला पैदा हो जाता था तो उस दीप के चिकित्सक उसकी आंखें निकाल के अलग कर देते थे कि यह आदमी बीमार मालूम होता है जहाँ सब अंधे हो वहाँ आंख वाला होना बहुत खतरा मोल लेना है क्योंकि अंधों को ये मालूम पड़ता है कि इसके शरीर में कोई खराबी है पांच उंगलियों वाले घर में छह उंगली वाला बच्चा पैदा हो जाता है छठी उंगली का ऑपरेशन करवा देते हैं फौरन ठीक है पांच उंगली ठीक है छह उंगली गलत है तो जहाँ आंख न होती वहाँ आंख वाला आदमी पैदा हो जाए तो गलत अंग निकले हुए उनको निकाल अलग वहाँ के चिकित्सक वहाँ के सर्जन उनकी आंखें अलग कर देते थे इसलिए वहां कभी आंख वाले के पैदा होने की संभावना बंद हो गई थी कभी कोई भूल चूक से पैदा होता तो उसकी आंख अलग कर दी जाती और वो अंधे निश्चिंत थे वो इलाज करते थे एबनॉर्मल था जिसकी आंखें थी वो असाधारण था वो रुग्ण था हम सब चूंकि उधार ज्ञान पर जीते हैं हमें ख्याल भी नहीं आता कि वास्तविक ज्ञान क्या हो सकता है वास्तविक ज्ञान से बड़ा आनंद नहीं वास्तविक ज्ञान से बड़ी क्रांति नहीं वास्तविक ज्ञान से बड़ा सौंदर्य नहीं वास्तविक ज्ञान से बड़ी संपदा नहीं लेकिन हमारे पास जो ज्ञान है उससे न तो आनंद उपलब्ध होता है न शांति उपलब्ध होती न जीवन परिवर्तन होता कुछ भी नहीं होता और फिर भी हम उसे ज्ञान माने चले जाते हैं शक भी नहीं पैदा होता संदेह भी पैदा नहीं होता मैं आपसे यही कहता हूँ उस पर संदेह करें शक करें खोजे कि ये कैसा ज्ञान है हमारा ये कैसा ज्ञान का धोखा है कैसा डिसेप्शन है और कोई और आपको धोखा दे रहा होता तो बचने की उम्मीद भी थी ये धोखा आप ही अपने को दे रहे हैं दूसरे के धोखे से बचना आसान लेकिन जब कोई खुद अपने को धोखा देता हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है इसलिए मैंने पहले सूत्र में ये कहना चाहा कि इस धोखे के प्रति जागरूक होते देखे समझे पहचाने ये क्या है ये जिसे हम समझ रहे हैं कि हम जानते हैं ये क्या है पूछे खोजे परखे कसम से कि जिंदगी को क्या काम दे रहा है सीखी हुई गीता और सीखे हुए कुरान मेरी जिंदगी को कहा बदल रहे हैं वो परमात्मा के पास कहा ले जा रहे हैं उनसे मैं कितने करीब पहुंचा हूँ उसके मैंने कितने कदम पार किए और कितनी सीढ़ियां चढ़ा हूं मैं सिवाय शब्दों की सीढ़ियों के कुछ और हम चढ़े ताक के घर बनाते हैं बच्चे और बच्चे कागज की नावें तैराते मैं आपसे कहता हूँ कागज की नाव में बैठ के भी कोई यात्री नदी के पार हो सकता है लेकिन शब्दों की नाव में बैठकर कभी कोई यात्री जीवन की नदी के पार नहीं हुआ है कागज की नाव फिर भी ठोस है शब्द की नाव उतनी भी ठोस नहीं और मैं आपसे कहता हूँ कि पत्तों के सास के घर बना के कोई जीवन उन बिता सकता है और रह सकता है क्योंकि सास फिर भी है लेकिन शब्दों के घर बना के जो रहते हैं वे बिल्कुल बेघर हैं और ब्रह्म पड़े हैं कि हम घरों के भी कटा रहे उठा भी दो तो वो फिर आपके लिए उधार ज्ञान बन जाएगा और कुछ भी नहीं और हम उधार ज्ञान की तलाश में एकदम पड़े हुए हैं कि कोई हमें बता दे कोई हमें बता दे कोई हमें बता दे ताकि हमें जानने की पीड़ा से छुटकारा मिल जाए माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है तो उसे प्रसव की पीड़ा झेलनी पड़ती और जब को तो जन्म मिलता है तो आदमी को भी प्रसव की पीड़ा झेलनी पड़ती सकती और माँ अगर प्रसव की पीड़ा से बचना चाहती हो तो बाजार में गुड्डे दिखते हैं उनको खरीद ले उनको बच्चे समझ ले लेकिन असली बच्चों को जन्म देने का ये रास्ता नहीं क्या होगा क्या होगा उस शांति में जहां आपको ये ख्याल मिल जाएगा कि ज्ञान मेरे पास नहीं है उस बूढ़े फकीर को क्या हुआ जब उसे पता चला कि मेरे जोले में सोने की ईट नहीं पत्थर की ईट क्या हुआ उस बूढ़े को कौन सी चीज बदल गई एक नया रिकॉग्निशन एक नई पहचान उसके सामने खड़ी हो गई कि मैं ईट को धो रहा था सोना समझ रहा था पत्थर को धो रहा था उसके बोझ को बहुमूल्य समझ रहा था इसलिए भयभीत था इसलिए परेशान था फिर वो रात वही सो गया निर्भय हो गया कोई बात उसके भीतर बदल गई वो किस शांति से सोया आप अंदाज लगा सकते हैं वो किस अशांति में था चलते वक्त वो किस शांति में सोया उस रात उसका कोई हिसाब हो सकता है कोई गणना कोई नापजोक हो सकती है उस आदमी के भीतर उस रात क्या हुआ एक तूफान था भीतर फिर तूफान जुदा हो गया और एक जड़ी शांति भीतर आ गई एक और घटना से समझाने की कोशिश करूं एक सम्राट अपने लौके लड़के पर नाराज हो गया कुछ भूल चूक हो गई पिता नाराज हो गया और उसने अपने लड़के को क्रोध में राज्य के बाहर निकालने की आज्ञा दे दी राजकुमार राज्य के बाहर भेज दिया गया तत्म उसे घुड़सवार राज्य की दूर सीमाओं के बाहर छोड़ा है अब उस राजकुमार ने वो राजा का लड़का था एकमात्र लड़का था सम्राट होना उसका निश्चित था उसके पास बड़ा राज्य था बड़ी संपदा थी न उसने कोई व्यवसाय सीखा था न कभी कोई श्रम किया था वो क्या करे वो दरिद्र से भी दरिद्र होकर राज्य के बाहर खड़ा हो गया वो क्या करे उसके पास तो दो रोटी कमाने की भी कोई उपाय नहीं हाँ उसने थोड़ा संगीत जरूर सीखा था तो वो गांव में गीत गा के गीत मांगने लगा पांच साल बीत गए राजा बुरा हो गया और उसे पश्चाताप हुआ और उसका एक ही लड़का उसने खो दिया उसकी मौत करीब आने लगी उसकी संपदा का साम्राज्य का कौन मालिक हो उसने अपने वजीरों को बुलाया और कहा कि शीघ्र दौड़ो और मैं रमन का पृथ्वी के किसी भी कोने पर उसे वापस ले आओ सम्मान के साथ उनसे कहना है कि तेरे पिता ने तुझे क्षमा कर दिया और तुझे राज सिंहासन के लिए बुलाया जा रहा है तू वापस चल तो वजीर भागे उन्होंने दूर दूर के देश छान डाले फिर एक बूढ़े वजीर को वो युवक मिल गया एक गांव में एक छोटी सी सराय के बाहर दीप मांगते हुए वो नाच रहा था गीत गा रहा था और हाथ में एक कटोरा लिए हुए भीख मांग रहा था धूप के तेज दिन थे आग की थी उसके पैरों में फसोले पड़े थे उसका चेहरा काला पड़ गया था उसका शरीर सूख गया था उसे पहचानना भी मुश्किल था वो वही कपड़े पहने था जिन्हें पांच वर्ष पहले पहने हुए घर के बाहर निकाल दिया गया था वो सब फटे चीतड़े हो गए थे उस वजीर ने उसे पहचाना वो उसके पास गया उसके पैरों में जूते भी न थे पैर जल रहे थे और सपोले पड़े हुए थे और वो लोगों से मांग रहा था कि कुछ पैसे दे दें ताकि मैं सस्ते से जूते खरीद लू मैं बिना जूतों के मरे जा रहा हूँ रेगिस्तान की तेज धूप है जलती हुई नीचे जमीन मुझे कुछ पैसे मिल जाए ताकि मैं जूते खरीद लू वो उसी के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा था उसने कुछ पैसे अपने हाथ की कटोरी में इकट्ठे भी कर सके थे उसकी आंखों से आंसू बह रहे और उस सराय के बाहर भीड़ मांग रहा रथ रुका वजीर नीचे उतरा और उसने जाके उस राजकुमार के पैर छुए और कहा तुम्हारे पिता ने तुम्हें क्षमा कर दिया तुम वापस लौट चलो एक क्षण और जैसे कोई बिजली कौन गई वो आदमी उसी क्षण दूसरा आदमी हो गया इस्तेमाल का कटोरा फिका और सड़क पर पैसे बिखर गए उसकी आंखों की तेज और रोशनी बदल गई और उसने वजीर को कहा कि ठीक जाओ अच्छे वस्त्र खरीद कर लाओ कीमती से कीमती जूते खरीद के लाओ सराय के लोग तो भीड़ लगा के इकट्ठे हो गए उन्होंने पूछा क्या हुआ जो भीख मांग रहा था लेकिन उस आदमी को पहचानना भी मुश्किल था वो आदमी दूसरा हो गया कपड़े तो अब भी उसके भिखारी के थे लेकिन उसकी आंखों में वो भाव आ गया था जो सम्राटों का होगा वो उन लोगों की तरफ अब देख भी नहीं रहा था जिनके सामने उसने हाथ फैला रखे थे लोगों ने पूछा क्या हो गया ये आदमी तो एकदम बदल गया ये आदमी तो दूसरा आदमी हो गया वो वजीर भी चकित खड़ा रह गया उस वजीर ने भी पूछा कि क्या हो गया उस युवक ने कहा इस बात का ख्याल भी आ गया कि मैं वापस बोला लिया गया हूँ राज सिंहासन का मालिक हो गया हूँ तो सारी बात बदल गई मैं आदमी दूसरा हो गया मेरे भीतर जो पांच साल से दुख मंगा था वो कहाँ जरूरत हो गया मैं खोज के भी नहीं पा रहा हूँ सारी कॉन्सियसनेस सारी चेतना दूसरी हो गई एक छोटा सा स्मरण पांच साल से उसे ख्याल था कि मैं एक दुख मंगा हूँ तो वो तीन दिन था उसकी आंखें भी नहीं थी उसके चेहरे का भाव निश्चित था और एक क्षण में उसे ख्याल आ गया रिकग्निशन उसे पहचान आ गई उसे रिमेम्बर हुआ उसे बोध हुआ कि मैं तो सम्राट हूँ और सब बात बदल गई वो दीनता हीनता आंख से जुड़ी हो गई वे आंखें जो निस्तेज थी देश से पड़ गई वे प्राण जो मध्यम पड़ चुके थे वे गतिवान हो गए वे श्वासें जो मृत की थी उन्होंने सिर्फ जीवन की हवा ले ली क्या हो गया उस युवक को जिस दिन आपको पता चलेगा कि जो ज्ञान मैंने आप तक ज्ञान समझा है वो दो कौड़ी का है वो कोई ज्ञान नहीं है एक क्रांति आपके भीतर खड़ी हो जाएगी झूठे सिक्के व्यर्थ हो जाएंगे सोने की ईट मिट्टी की ईट हो जाएगी जिसे कल तक समझा था महत्वपूर्ण वो एकदम विलीन हो जाएगा वो खो जाएगा उस पर मिट्टी खुल जाएगी और ये जो रिलैक्सेशन है ये जो मुठ्ठी का खुल जाना उस झूठी ईट से उस मिथ्या ज्ञान से ये जो आंखों का हट जाना उस जगह से जब आंखें मिथ्या से हटती है तो आंखें वहां पहुंच जाती है जो सम्यक जो ठीक है गलत से आंख का हटना ठीक पर पहुंच जाना to know the false as false जो झूठ है जो गलत है उसे गलत की तरह जान लेना उस पर पहुंच जाना है जो सही है जो सत्य है सत्य को जानने की तरफ पहला कदम है कि मैं उसे पहचान लू जो सत्य नहीं है जो भ्रांत है जो असत्य है जो मिथ्या है जो केवल आभास है जो केवल वंचना है उसे मैं जान लू इस जानने से ये क्रांति का पहला कदम घटित होगा आंखें हटेंगी उस जगह से और उस जगह पहुंच जाएंगी जहां ठीक है जब झूठे ज्ञान से आंखें हटती है तो सच्चे ज्ञान की खोज में उठ जाती और वो सच्चा ज्ञान कहीं हिमालयों की कंदराओं में नहीं कहीं सहारा के रेगिस्तानों में नहीं कहीं सात समुंदर पार करके उसे खोजने नहीं जाना है वो ज्ञान प्रत्येक के भीतर है जिसकी मैं बात कर रहा वो प्रत्येक का अपना निज स्वरूप है वो प्रत्येक की अपना स्वभाव है एक बार मिथ्या से हमारी आंख हट जाए तो हम उसको खोज ले पा सकते हैं जो हम हैं जो सदा से हमारा है लेकिन गलत चीज पे मुट्ठी बंधी हो तो ठीक चीज की तलाश में हाथ खोज ही नहीं कर पाते इसलिए गलत को गलत जान लेना पहली बात है व्यर्थ को व्यर्थ जान लेना पहली बात है असार को असार जान लेना पहली बात है ताकि सार्थक की तरफ हम आंख तो उठा सके और जब तक हम व्यर्थ को सार्थक समझते हैं जब तक हम ना कुछ को सब कुछ समझते हैं तब तक सत्य की तरफ आंख कैसे उठ सकती सब्सिट्यूट जब तक हमारे हाथ में है तब तक बड़ी गड़बड़ है तब तक ख्याल में भी नहीं आ सकता जब तक कोई चीज पूर्ति कर रही है मिथ्या चीज पूर्ति कर रही तब तक ख्याल में नहीं आ सकता कि कैसे हम उसको खोजें जो ठीक है और सही है इसलिए इसलिए मैंने पहली बात आपसे कही और फिर से कुछ बातें वापस आपको ख्याल में लाने की कोशिश की कि क्यों इतना जोर दे रहा हूं क्यों शब्द और सिद्धांत और शास्त्रों को इतना व्यर्थ कह रहा हूं क्यों चाहता हूं कि आपके भीतर न जानने की स्मृति आ जाए जाना हुआ व्यर्थ हो जाए आप उसके ऊपर उठ जाए और आप खुले मन से एक ओपन माइंड से जगत को फिर से देख सके नया सीखा हुआ नहीं याद किया हुआ नहीं बिल्कुल नई आंखों से जगत को देख सके स्मरण रखिए कि जिन आंखों से अभी आप देख रहे हैं उन आंखों से परमात्मा अगर देखा जा सकता होता तो देख लिया गया होता कब तक उन्हें पुरानी आंखों से देखने की कोशिश जारी रखिएगा अगर उनसे कहीं कुछ मिलने वाला होता तो मिल गया होता कब तक प्रतीक्षा करिएगा लेकिन स्पष्ट है कि उनसे उसकी झलक नहीं मिली जो है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे देखने की आंख ही बंद थे एक मस्जिद में एक सुबह ही सुबह कुछ लोग नमाज पढ़ के बाहर निकले थे और एक व्यक्ति मस्जिद में प्रविष्ट हुआ है उसने जूते आहिस्ते से उतारे और द्वार के किनारे रख के वो मंदिर के मस्जिद के भीतर चला गया मुझे लोग द्वार पर खड़े थे उन्होंने सोचा वे जूते कीमती थे बहुत चमकदार थे बहुत बहुमूल्य थे लेकिन वो आदमी इतने आहिस्ते से उन्हें द्वार पर रख गया था कि वे सब चकित हो गए और आपस में पूछने लगे कि आदमी ने जूते बाहर क्यों छोड़ दिए कोई इन्हें चुरा ले जाए तो और वह आदमी ऐसे भीतर चला गया है जैसे उससे कोई प्रयोजन ही नहीं जैसे इन जूतों से उसका कोई संबंध नहीं रोम ने सोचा हम रुक जाए और जब हम लौटे तो उससे पूछे वे रुक गए तभी एक दूसरा आदमी भी प्रविष्ट हुआ उसने अपने फटे पुराने जूते उतारे दोनों को एक साथ हाथ में लिया और मस्जिद के भीतर चला गया उन लोगों ने से कोई बोला एक आदमी ये भी है कि अपने फटे पुराने जूतों को भी मस्जिद के भीतर ले जा रहा है जो जूते को भी बाहर नहीं छोड़ सकता वो मंदिर में कैसी प्रार्थना करेगा फिर उन्होंने सोचा किसी ने कहा कि वो भी जब बाहर आ जाए तो उससे भी हम पूछे उसके फटे पुराने जूतों को भीतर ले जाने की वजह क्या है क्या उसे कोई भय है कि कोई इन्हें चुराना दे फिर पहला आदमी नमाज पढ़ के बाहर आया वो अपने जूते पहन रहा था तो उन लोगों ने पूछा कि तो क्या हम पूछ सकते हैं कि आप अपने कीमती जूते इतने चुपचाप बाहर छोड़ गए इनका राज क्या है आप भीतर क्यों नहीं ले गए लोग आमतौर से फटे पुराने जूते भी भीतर ले जाते अभी आपके पीछे ही दूसरा आदमी जूते भीतर लेकर नमाज पढ़ने गया उस आदमी ने कहा मेरे दोस्तों मैं जूते इसलिए बाहर छोड़ गया अगर कोई उन्हें चुराना चाहे तो मैं उसके बीच बाधा न बन सकू एक तो दूसरे इसलिए जूते बाहर छोड़ गया कि अगर किसी को जूते चुराने की कामना पैदा हो टेम्पटेशन पैदा हो उत्तेजना पैदा हो और कहीं वो उस उत्तेजना पर विजय पाले और जूता चुराने से बच जाए तो उसे पुण्य का अवसर देने का सौभाग्य मुझे भी मिलता है इसलिए मैं जूते बाहर छोड़ गया उसने जूते तो पहने हो वो अपने रास्ते पर हो गया वे सब छके राशि से खड़े रह गए और उन्होंने कहा कितना अद्भुत आदमी है कोई चोरी में बाधा ना बन जाऊं मैं इसलिए जूते तो बाहर छोड़ गया और इसलिए जूते तो बाहर छोड़ गया कि हो सकता है कोई चोरी करने से बच सके तो उसके पुण्य का भी सौभाग्य मुझे मिलता है फिर उन्होंने कहा और वो दूसरा आदमी वो कैसा निकृष्ट आदमी फिर तो वो दूसरा आदमी भी अपने जूते बदल में दबाए हुए बाहर निकला तो उन्होंने सको कहा का दोस्त क्या आप बता सकेंगे कि फोटो पुराने जूतों को भी आप बाहर क्यों नहीं छोड़ गए जबकि लोग बहुमूल्य जूते भी बाहर छोड़ जाते हैं उस आदमी ने कहा तुम पूछते हो तो मैं बताता हूँ इसलिए जूते बाहर नहीं छोड़ गया कि कहीं किसी का मन उन पर चोरी करने का ना हो जाए अन्यथा उसके पाप में मैं भी भागीदार हो गया उसे मैंने मौका दिया चोरी करने का तो मैं चोरी में दावेदार हो गया और अगर उसने चोरी ना भी की सिर्फ उसे टेम्पेशन हुआ सिर्फ उसे उत्तेजना हुई कामना हुई कि चोरी कर लू तो भी चित्त तो चोर हो ही गया तो मैं ऐसा मौका नहीं देना चाहता कि किसी का चित्त चोर हो इसलिए मैं जूते भी कर गया वे लोग उसकी बात सुन के बेहरान रह गया और कहने लगे कैसा साधु पुरुष है कैसा भला आदमी है वो आदमी ने अपने जूते पहन के रास्ते पर हो लिया और तभी उन लोगों के बीच में एक बूढ़ा खड़ा था उस बूढ़ा हंसने लगा तो उन लोगों ने पूछा कि तुम क्यों हंसते हो उसने कहा मैं इसलिए हंसता हूं कि दोनों आदमियों ने जो बातें कही उनका सत्य से कोई भी संबंध नहीं उनका सच्चाई से कोई भी संबंध नहीं तथ्य कुछ और ही है उन लोगों ने पूछा तथ्य क्या है उस आदमी ने कहा कि तुम देख भी नहीं पाए कि एक तीसरा आदमी भी भीतर प्रविष्ट हुआ लेकिन उसके पास न तो बाहर रखने को जूते थे न भीतर ले जाने को जूते थे वो आदमी तुम्हें दिखाई ही नहीं पड़ा क्योंकि न उसके पास जूते बाहर रखने को थे न भीतर थे वो चुपचाप भीतर प्रविष्ट हो गए थे उसका तुम्हें पता भी नहीं चला इन दो आदमियों का तुम्हें पता चला और इन दोनों आदमियों ने अपने कृत्य की बड़ी ज्ञानपूर्ण व्याख्या की सच्चाई कुछ और है जो आदमी कीन के जूते बाहर छोड़ गया है उस आदमी को मैं बड़ी भांति जानता हूँ उस पूरे ने कहा वो केवल जूते इसलिए बाहर छोड़ गया ताकि तुम उसके जूते ठीक से देख लो कि कितने चमकदार और कीमती अन्य मस्जिद में उन जूतों को लेकर आने की कोई जरूरत ही न थी छोड़ने का राज ये नहीं था जो उसने बताया वो तो सिर्फ तरकीब थी जस्टिफिकेशन था वो किसी चीज को नया संगत ठहराने की आदमी की होशियारी थी वो आदमी की नहीं थे मैं उस आदमी को भली भांति जानता हूँ एग्जीबिशन का उसे शौक है चीजों को प्रदर्शन करने की उसे आदत है हर चीज दिखा देना चाहता है सब लोग देख ले उसके घर में बार उसकी बीवी मर गई थी तो वो घर के भीतर नहीं रोता था चौरस पे तक खड़ा होकर रोता था ताकि सबको पता चल जाए कि उसकी बीवी मर गई और वो रो रहा है उस आदमी को मैं भली भांति जानता हूँ क्यों जूते बाहर रख गया लेकिन उसने बड़ी ज्ञानपूर्ण बात कही और बड़े गहरे अज्ञान को छुपा लिया और तुम भी धोखे में आ गए हो और जो आदमी जूते भीतर ले गया था उस आदमी को मैं भली भांति जानता हूँ वो नमाज कम पढ़ता है जूतों का ध्यान ज्यादा रखता है फटे में जूते भी छोड़ने की उसकी हिम्मत नहीं है लेकिन अपनी इस कमजोरी को उसने बड़ी ज्ञानपूर्ण बातों में छिपा ली है उसने बड़ी अच्छी बात कही कि मैं इसलिए जूते भीतर ले गया था लेकिन जो आदमी न जूते बाहर छोड़ गया ना भीतर वो तुम्हें दिखाई ही नहीं पड़ा वो तुम्हारे ख्याल में भी नहीं आया तुम उससे पूछने भी नहीं गए तुमने उससे पूछा भी नहीं कि तेरे पास जूते भी नहीं है उस आदमी के पास जूते थे लेकिन वो जूते उस आदमी को दिलाया है जो गरीब था और बूढ़ा था और सड़क पर लंगे पैर चलता था वो अपने जूते किसी बुरे आदमी को दे आया है जो नंगे पैर था और धूप में चल रहा लेकिन उसकी तरफ किसी का ध्यान भी नहीं करेगा ध्यान उनकी तरफ जाता है जो ध्यान आकर्षित करते हैं ध्यान उनकी तरफ नहीं जाता जो चुपचाप जीवन के रास्ते से गुजर जाते हैं और फिर जो हम सीख लेते हैं ज्ञान हम अपने सारे जीवन को उस ज्ञान से ढांकने और छिपाने का उपाय करते हैं ज्ञान के हम वस्त्र बना लेते हैं और अपने सारे जीवन की वृत्तियों को सारी अंधेरी वृत्तियों को ज्ञान की आड़ में छिपा लेते हैं ये ज्ञान सीखा हुआ ज्ञान कहीं ले जाता तो नहीं लेकिन जीवन की व्यर्थता को जीवन के अंधेरे को जीवन के गांव को छिपाने का जरूर काम करता है इसलिए दुनिया में जिस तरह ये तथाकथित ज्ञान बढ़ता जाता है आदमी अपने हर पाप के लिए जस्टिफिकेशन खोजता चला जाता है वो जो भी बुरा करता है उसके भी कारण बताता है जो भी बुरा करता है उसके लिए भी शास्त्रों का उद्धरण देता है उसे शास्त्र ख्याल ही तब आते हैं जब उसे कोई बात छिपानी होती तब उसका ज्ञान बीच में काम करता है और रुकावट बनता है जीवन को बदलने के काम में नहीं आता ये ज्ञान नहीं आता ये ज्ञान नहीं आ सकता है केवल जीवन न बदल पाए इसलिए जरूर काम में आता है अगर वो चोरी करता है आदमी तो वो मार्ग पी के चलने से यूं धर्म देगा कि धन तो सभी चोरी है जिसके पास भी धन है वो चोर है ये अगर मैं चोरी करता हूँ तो क्या बात है और फिर जिन लोगों ने चोरी कर कर धन इकट्ठा कर रखा है अगर उनसे चोरी भी की जाए तो पुण्य का कार्य मैं उनका धन वापस लौट आ रहा हूँ उनके पास जिनका वो है दुनिया भर के डाकू इसमें अपना जस्टिफिकेशन खोज सकते हैं खोजते हैं लेकिन इस गति को वो सिद्धांतों के नाम देते हैं अगर एक आदमी धन इकट्ठा कर ले पाप से बेईमानी से सब तरह के चोरी से तो वो ये नहीं कहता कि मैंने चोरी और बेईमानी से धन इकट्ठा किया वो कहता है धन तो पुण्य का अर्जन है पिछले जन्मों में जो अच्छे कर्म करता है उसको धन मिलता है शास्त्रों में लिखा हुआ है शास्त्र उसकी गवाही बन जाती है शास्त्र उसकी गवाही बन जाती और शास्त्रों में दुनिया के शास्त्रों में शायद कोई भी एक ऐसी बात नहीं है जिसके लिए गवाही न खोजी जा सके एक पाप ऐसा नहीं है जिसके लिए गवाही न खोजी जा सके जीवन बहुत विराट है एक आदमी जुआ खोल खेलता है तो युधिष्ठिर की गवाही देता है कि युधिष्ठिर जुआ खेलते और मैं क्या जुआ खेलता हूँ बड़े जुआरी लोग थे अपनी पत्नी को भी जुए पर लगा देते थे सारा ये तथा कथित ज्ञान जो हम इकट्ठा कर लेते हैं हमारे भीतर जो हमें नहीं बदलना है उसके लिए सहारा बनता है और कुछ भी नहीं इस झूठे ज्ञान से कभी किसी को बदलते हुए तो नहीं देखा गया लेकिन नहीं बदलते हुए जरूर देखा गया सारी पृथ्वी इसका सबूत है और गवाही जो हमें करना होता है हम करते हैं और ज्ञान की गवाही विटनेस इकट्ठी कर लेते हैं अज्ञानी के पास कम से कम गवाही तो नहीं होती अज्ञानी कम से कम इतना तो कहता है कि मैं अपराधी हूँ मुझसे भूल हो गई और जो आदमी ये कहता है कि मुझसे भूल हो गई उसके भूल के बदलने का उपाय हो सकता है लेकिन जो आदमी कहता है भूल का सवाल कहा सारे शास्त्र तो मेरे पक्ष में खड़े हर युद्ध को धर्म युद्ध कहा जाता है हर युद्ध के पीछे शास्त्रों की गवाही खोजी जाती है हर बुराई के पीछे सांस तो इकट्ठे किए जाते हैं हर बुराई के पीछे ज्ञान को इतने जोर से चीख पुकार मचाई जाती है कि बुराई तो लिखी जाती है ज्ञान ही दिखाई पड़ता रह जाता है दुनिया में कुछ ऐसा नहीं है जिसके लिए ज्ञान का सहारा नहीं मिल जाता हो और इस भांति सीखे हुए ज्ञान ने आदमी को रूपांतरित तो नहीं किया लेकिन रोका जरूरी मैं आपसे कहता हूँ ज्ञान का सहारा खोजते छोड़ दें खो दें ज्ञान का सहारा और जैसे आपने सीधे और साफ अनजस्टिफाइड कोई न्याय संगति हम नहीं खोज रहे अपने लिए बुरे हैं तो बुरे भले हैं तो भले उस सीधी सच्चाई को सारे ज्ञान को एक तरफ रख सोचे नहीं तो एक गुंडा हत्या करता है किसी की हत्या करने का मजा लेता है लेकिन वो कहता मैं हिंदू और ये मुसलमान है और मुसलमान को समाप्त करना धर्म है और एक दूसरा गुंडा एक औरत को घसीटता है और विचार करता है वो मुसलमान है और औरत हिंदू है वो कहता है हिंदू औरत है और इसलिए मैं तो उठा के ले जा रहा हूँ ये धर्म का कार्य हो रहा है मस्जिदें जलाई जाती हैं और मंदिर तोड़े जाते हैं मूर्तियां फोड़ी जाती हैं और किताबों में आग लगाई जाती है आदमी की हत्या की जाती है अच्छे अच्छे सिद्धांतों के नाम पर अच्छे अच्छे ज्ञान के नाम पर हैरानी है इस ज्ञान को लानत भी है इस ज्ञान के लिए दुर्भाग्य ये हमारा कि इस ज्ञान की आड़ को हम लिए ही चले जाते हैं दुनिया भर के पाप किए जाते हैं ज्ञान और किताबों की आड़ में और वो पाप चलते रहेंगे जब तक जब तक कि हम किताबों के झूठे मोह को न छोड़ दें और जीवन को सीधा देखने के लिए तैयार न हो जाए सीधा केवल वही देख सकता है जो ज्ञान को विदा दे देता है और विस्मय की आंखें आश्चर्य की आंखों को उपलब्ध कर लेता है इसलिए मैंने सुबह ये बात कही और ये कुछ सूत्र मैंने पुनः स्पष्ट किए मैं आशा करता हूँ कि वो आपको साफ हुए होंगे और उन पर सोचिए और विचार करिए और पूछिए और खोजिए ताकि एक दिन ये बात बहुत स्पष्ट आपके सामने खड़ी हो जाए अगर ये बात स्पष्ट हो जाए तो आपके जीवन में क्रांति की शुरुआत हो जाती ये पहले सूत्र की दोनों चर्चाएं पूरी हुई कल सुबह हम दूसरे सूत्र पर विचार करेंगे मेरी बातों को इतनी शांति से सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अंत में सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ मेरे प्रणाम स्वीकार करता हूँ